बेशक अगर वो तुम्हारी खबर पा लेंगे तो तुम्हें रजम कर देंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस ले जाएंगे और ऐसा हुआ तो तुम कभी फला नहीं पाओगे